ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठि मनो मे पासि प्रतिष्ठितम् आदिराविर्मयेभि वेदस्य मानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहाशीरणे दीपेन होरात्रान् हितम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति ऋग्वेदीय ऐतिरोपनिषद अवतरण भाष्य को विचार चल रहा था तो ये आत्मा वही इदमग्रे आशिक इत्यादि वाक्य जो आने वाले हैं इसके अवतरण चल रहा है इसके पूर्व में कर्मकांड संबंधी बातें आई हुई है तो पूर्वादि कर्म और ज्ञान के समुच्चयवादी जो उपवर्ष हैं भर्तृ प्रपंचादि हैं उनका कहना है जो पूर्व ज्ञान का अधिकारी है आगे के आत्मा वही आशिक जो पूर्व के जो कर्मकांड के अधिकारी है वही ज्ञान के अधिकारी वही है वो होता है गृहस्थाश्रम में कर्म होता है इसलिए गृहस्थाश्रमी को ही मुक्ति होना है मुक्ति माने देवता अपने लक्षण गर्भ की प्राप्ति वही मुक्ति है तो वही मुक्ति है वो मुक्ति कर्म और ज्ञान से होना है वो दोनों के दोनों गृहस्थाश्रम में संभव है इसलिए संन्यास आश्रम नहीं है ऐसा उनका कथन था तो उसका अब तक खंडन कर दिया संन्यास आश्रम है लोक ही समायाश्च ही समायाश्च पुत्र ही समायाश्च वित्ताय अथ भिक्षाचर्य करेंगे ऐसे ऐसे वाक्य हैं इन यशाओं से मुक्त होकर के भिक्षाचर्या करना भिक्षाचर्य करना माने गृहस्थाश्रम में नहीं हो सकता हो बहुत सारी श्रुतियां संन्यास परक हैं तो संन्यास परक वाक्य होने से संन्याश्रम संन्यास आश्रम नहीं है नहीं कर सकते और वो संन्यास आश्रम दो प्रकार के हैं माने युद्धा या भिक्षाचरम करें आदि कहने वाला क्या है एक विद्युषी संन्यास है एक विद्वत संन्यास है अब तक विद्वत संन्यास के बारे में चर्चा की विद्वत सन्यासी कर्म नहीं कर सकता इस स्थिति क्यों कर्म का फल जो पुत्र स्वर्ग अथवा ब्रह्मलोक है उसको चाहिए नहीं किम कया किम प्रजय करिश्यामो वयम इत्यादि स्थिति है तो विद्वत सन्यासी तो तीनों से ऊपर उठा हुआ होता है जो लोकादि उस नहीं चाहिए तो उसके साधन भी नहीं करेगा विद्वत सन्यासी कर्म नहीं कर सकता क्यों कर्म होता है शरीर में आत्मभाव पूर्वक मैं ब्राह्मण हूं पुरुष हूं स्त्री हूं आदि जो भी अभिमान होगा पर ज्ञान होता है आत्मभाव को बात करें शरीर के निर्भिमान को ज्ञान होता है इसलिए ज्ञान होने पर कर्म नहीं हो सकता इसलिए विद्वत सन्यासी कर्म नहीं कर सकता अब अविद्वत सन्यासी जो होगा विविदुषु सन्यासी वो कर्म कर सकता है कि नहीं अब इसके बारे में विचार है सिद्धांति इसका भी उत्तर देना चाहते हैं कि विविधेशु सन्यासी वो भी कर्म नहीं कर सकता अग्निहोत्रादि कर्म का अधिकार उसको भी नहीं है यही कहना है टीका वे चल रहा है एवं विदुषो वित्थान प्रसाधन इस प्रकार जो ज्ञानी होगा आत्मज्ञान हो गया देहाभिमान को बाध करके निराभिमान अवस्था में पहुंचा हुआ है व्युत्थान प्रसाधन उसके लिए तो कर्मत्याग ही प्रसाधन किया विद्या या अकर्मनिष्ठ साधन पूर्व पक्ष ने दो कहा था ये जो विद्या है आत्मज्ञान है कर्मनिष्ठ है और कर्म संबंधी है दो बातें बताया था उसका खंडन किया एवं विदुषो व्युत्थान प्रसाधन जो विद्वत सन्यासी है विदुष का उसका व्युत्थान कहा मैंने संन्यास आश्रम में जाने को कहा जिसके द्वारा विद्या जो ज्ञान है आत्मज्ञान उसका अकर्म निष्ठ तुम साधित कर्मी निष्ठ नहीं है गृहस्थाश्रमी निष्ठ नहीं है आत्मज्ञान सिद्ध किया तेन ही बचा उसी हेतु के द्वारा व्युत्थान प्रसाधन के द्वारा ही तेन ही दस्या कर्मा संबंध प्रसाद जब अकर्मनिष्ठत्व सिद्ध हो गया तो कर्म संबंध भी नहीं हो पूर्वाद ने कहा था कर्मी कर्मी निष्ठ है और कर्म संबंधी कहा था जब अकर्मी निष्ठ है कर्मी में नहीं है आत्मज्ञान तो कर्म संबंध भी नहीं उसका ये भी सिद्ध हो गया है तो अनेक तर्कों में से एक तर्क का खंडन कर दिया अब इधानी विविदिशो रखी और जब विविदिशु संन्यासी व्यक्तुम इच्छु विविदिशु उस आत्मतत्व की जानने की इच्छुक है अभी आत्मतत्व जाना नहीं है परोक्ष रूप से कुछ पता है उसको सामान्य है अपरोक्ष ज्ञान नहीं है विद्वत सन्यासी तो अपरोक्ष ज्ञान वाला है और विविधु सन्यासी परोक्ष ज्ञान इधान विविशोर अभी व्यक्तुम इच्छु विविशु उसको भी व्युत्थानम प्रसादन उसके भी संन्यास का ही अधिकार है कर्म करने का अधिकार नहीं वैदिक कर्म का अधिकार उसको भी नहीं है यदि आत्मज्ञान की इच्छुक है आत्मलोक प्राप्ति की इच्छुक है तो वैदिक कर्म अग्निहोत्र आदि कर्म का अधिकारी वो भी ये सिद्ध करना है इधानी विविदिशोर अपनी व्युत्थान प्रसार है जो विविधिशु सन्यासी उसको व्युत्थान सिद्ध करते हुए विद्याया कर्मनिष्ठत्व कर्म संबुद्धित्व है पूर्वादि का कहना था कि भरती प्रपंच आदि हैं ज्ञान आत्मज्ञान कर्मनिष्ठ है और कर्म संबंधी है कहा उसका कर्मनिष्ठत्व कर्म संबंध दूरा पाठ है जब कर्म ही नहीं कर सकता है कर्मनिष्ठ कहां से होने विद्या और कर्म संबंध कहां होना है आत्मज्ञान दूर से हटाएंगे उसको ये कहा अभिदुषापी ये भाषण में कहा था अभिदुषापी मुमुक्षण अज्ञानी दो प्रकार के हैं एक मुमुक्षु अज्ञानी है एक बुभुक्षु अज्ञानी एक संसार चाहता है एक मोक्ष चाहता है जो मोक्ष चाहने वाला अज्ञानी है उसको विविदिशु कहा अभिदुषा आप ही है तो अज्ञानी है फिर भी मुमुक्षा है उसके पास मुमुक्ष पारिव्राज्यम कर्तव्य में उसको भी संन्यास ग्रहण करना ही है कर्तव्य है उसके यदि मुमुक्षु है तो क्यों श्रुति है वृत्तारण शांतो दांत उपरत स्थिति समाहित भूतवा आत्मनि एवं आत्मा पश्य वृत्तारण श्रुति ऐसा बोलती है ऐसा कहा टीका से देखें तत्र श्रुति में आहार मैंने विविधिशु सन्यासी विविधिशु के लिए भी सन्यास ग्रहण करना चाहिए इसमें श्रुति है क्यों शांतो दांत उपरथ तिथिक्षु भूतवा आत्मा आत्मनि आत्मा आत्मान पश्चिद आत्मा को जान चुका नहीं पश्चिद कहा देखे आत्म ज्ञान को प्राप्त करे इसके मतलब अभी विविधिशु अवस्था में ये श्रुति सिद्ध होता है इत्यादि कहा इत्यादि वचनम प्रमाण ये वचन प्रमाण है किसके लिए विविदिशु के लिए भी संन्यास ग्रहण करने के लिए ये वचन ब्राह्मण है कहा ठीक है उपरत स्थितिक्षु समाहित भूतवा आत्मनि एवं आत्मनम पश्यति श्रुति है भाष्य में तो था इतना ही दे दिया टीकाकार कहते हैं इतने श्रुति का शेष है पूरा मंत्र इतना होता है उपरत स्थितिक्षु समाहित भूतवा आत्मनि आत्मन पश्य इसमें जो उपरत शब्द का क्या अर्थ होगा शांत माने तो मन को दमन करना होगा मनो निग्रह करना है दांत माने इंद्रिय निग्रह करना है आगे उपरत माने क्या है कहते हैं तत्र उपरत शब्द उस श्रुति में जो उपरत शब्द आया उसके बाद संन्यास हो गया उपराम हो जाना विषयों से उपराम हो जाना संन्यास है उस श्रुति में उपरत शब्द का समाधि साधना नाम कौशल्य अनुष्ठान से गृहस्थादृशु असंभवा तद विधिना अर्थात आक्षिप्त थे संन्यास यदि श्रुतार्थापत्ति एक श्रुतार्थापत्ति भी है वचन तो है श्रुति साक्षात श्रुति भी है पर अर्थात अर्थापत्ति प्रमाण भी है श्रुतार्थापत्ति दृष्टार्थापत्ति तो नहीं अर्थापत्ति दो प्रकार के होते हैं दृष्टार्थापत्ति श्रुतार्थापत्ति तो जैसे दृष्टार्थापत्ति ये होता है तीनों देवदत्त दिवा अमुंजान क्या होगा उसको जो पीन दिखाई मोटा पड़ता है उसे कल्पना करते हैं पीना तो क्यों रात्रि भोजन करता है रात्रि भोजन करता है दिन में नहीं खाता है मोटा है व्यक्ति दृष्ट पुष्ट है ऐसे व्यक्ति को देख करके अर्थ की आपत्ति भोजन के बिना पीनत तो हो नहीं सकता पीनत तो है इसमें इसका मतलब भोजन करता है दिन में नहीं करता रात्रि में करता है सिद्ध होता है अर्थापत्ति को तो अर्थ के आपत्ति से सिद्ध करना है पीनत्व की आपत्ति देते हैं खाए बिना मोटा होना नहीं और दिन में खाता नहीं इसे मतलब रात्रि में खाता है सिद्ध होता है अर्थापत्ति ऐसा होता है वो तो दृढ़ता पड़ती है देखा पीनत्व को देख करके आक्षेप करते हैं रात्रि भोजन की कल्पना करते हैं प्रमाण है वो एक श्रुतार्थापत्ति है बोलते हैं श्रुतार्थापत्ति प्रमाण यहां देना चाहते हैं समाधि जो साधन है जितने साधन चाहिए आत्मज्ञान के लिए समाधि साधना नाम पौष्कल्याण अनुष्ठान से गृहादिशु असंभव आत्मज्ञान के लिए जितने साधन चाहिए था सम तम उपरति उपरत तिथिक्षु आदि सब गृहस्था अन्य आश्रम में संभव नहीं है उपरत शब्द से संन्यास कहा हुआ है पौष्कल्याण अनुसार कुछ कुछ तो है सभी भी आश्रम में कुछ कुछ साधन तो पाए जाएंगे किंतु संपूर्ण रूप से साधन पूर्ण रूप से अन्य आश्रम में संभव नहीं है होने से गृहस्थादि से तद विधिना भी क्यों तो इसलिए भी जो समाधि साधन का जो विधान किया है शांतोदांत आदि जो समाधि साधन का विधान है इसके द्वारा भी आक्षिप्त थे किसका संन्यास आक्षिप्त थे संन्यास का आक्षेप होता है संन्यास है विविश्व संन्यास यदि श्रोतार्थापत्ति श्रोतार्थापत्ति उसके बिना ये वचन सिद्ध नहीं होगा ये कहा समदवादी नाम से आत्मदर्शन साधना नाम अन्याश्रमेश अनुसत्य कहा समदवादी जितने भी हैं ये जो आत्मदर्शन आत्म साक्षात्कार के साधन हैं यह अन्य आश्रम में संभव नहीं है पुष्कल रूप से संभव नहीं है ये कहा ठीक है च शब्द उपशब्द समुच्चयाथ समदवादी नाम च से च आया च से लेना है संन्यास आत्मदर्शन के लिए संन्यास भी कारण है च शब्द जो दिया है वह उपरत को समुच्चय करने के लिए है उपरत दो की टिप्पणी में कहते हैं उपरत यदि उपरत श्रुति हाँ, सम दम उपरत यही श्रुति है समाहित तो गुत्वा है शांतोदांत उपरत समाहित तो गुत्वा आत्मी आत्म आत्मी पश्यत इत्यादि अर्थापत्या श्रुते है समुच्चय अर्थ इत्यर्थ श्रुति जो अर्थापत्ति है श्रुति से समुच्चय करने के लिए है यह चकार ये नेरम विद्वत विषयम ये जो श्रुति है शांतो आदि श्रुति है विद्वत सन्यासी के लिए विषय नहीं है वो तो शांत दांत हो चुका है उसका फल मिल चुका है उसको ये जो वचन है श्रुति का वचन विद्वत सन्यासी के लिए नहीं और श्रुति है किसके लिए होगा विविधिष्ट सन्यासी के लिए सिद्ध होता है नेरम वचनम विद्वत विषयम विद्वत सन्यासी के लिए वचन है उसके लिए आप उसकी आवश्यकता ही नहीं है ऊपर पहुंच रहा है तस् साधन विधि वही आता है उसके लिए साधन व्यर्थ है फल मिल चुका है उसको किंतु विविधिशु विषय मिति भक्तुम आत्मदर्शन साधना निर्दिष्टम इसलिए विविधिशु को विषय करता है करती है स्मृति शांतोदान आदि ये कहा आत्मदर्शन साधना नाम बोला ये सब आत्मदर्शन के साधन है आत्म साक्षात्कार के साधन है विद्वत सन्यासी को तो आत्म साक्षात्कार हो चुका है उसकी आवश्यकता नहीं है ये जो साधन का विधान किया इसे भी सिद्ध हुआ विविधिशा संन्यास है ये कहा साधना नाम में एक ना छूटा हुआ है दो दो ना होना चाहिए साधना नाम अच्छा इसलिए कहा है आगे बोलते हैं और भी श्रुति है अत्याश्रमिक परमम पवित्रम प्रवाच सम्यक संग दुष्टम इति श्वेता सूत्र विज्ञा है ये भी श्वेता सूत्र में ऐसा कहा है अत्याश्रमियों के लिए कहा ये जो आत्मज्ञान किसको बताया अत्याश्रमियों के लिए बताया अत्याश्रमी परम पवित्रम परम पवित्र है आत्मज्ञान अत्याश्रमी के लिए कहा प्रवाच कहा सम्यक प्रकार से कहा ऋषि संग जुष्टम ऋषियों के समुदाय ने जिसके सेवन किया है जिस प्रीति सेवन है सेवितम जुष्टम सेवितम तो ऋषियों माने ऋषि हो अथवा ऋषि माने मंत्र हैं जिन्होंने सेवन किया है ऐसे आत्मज्ञान को अत्याश्रमियों के लिए बताया बोला अत्याश्रमी माने कौन तो टीका में बोलते हैं ब्रह्मचर्यादि हंसांतान आश्रम धर्मवत आश्रमान अतिक्रम्य वर्तते परम हंस इति सो अत्याश्रम शब्द है उच्चते अत्याश्रम शब्द से परमहंस सन्यासी भी लिया है क्यों ब्रह्मचर्यादि आश्रम से लेकर के ब्रह्मचर्य आश्रम भानप्रस्थ आश्रम गृहस्थ आश्रम भानप्रस्थ आश्रम संन्यास में भी कुटीचक बहुत हंस ये सबको अतिक्रम करके बैठा हुआ है ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के हंस तक आश्रम को अतिक्रमण किया है पार करके बैठा है इसलिए परमहंस सन्यासी को कहा अत्याश्रम अत्याश्रम वाला है अत्याश्रम कहा ये कहा ब्रह्मचर्यादि ब्रह्मचर्यादि हमसांतान आश्रम आश्रम धर्म होता जो ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के ब्रह्मचर्य है गृहस्थ आश्रम है बानप्रस्थ है उसके बाद संन्यास में कुटीचक बहुदट हंस यहां तक आश्रम आश्रमों को अतिक्रमण करके रहता है ये इसलिए परमहंस जो रहता है इसलिए स्व अत्याश्रम शब्द उसी को अत्याश्रम शब्द से कहा है परमहंस आश्रम कहा इति तद विधि अत्र है इसलिए भी संन्यास का विधान यहाँ है माने परमहंस संन्यास का विधान है विद्वत संन्यास का विधान है प्रतीक होता है पूर्व पक्ष ने कहा था संन्यास है नहीं बोला था ऐसा था अच्छा, आगे ऋषि संग दुष्टम कहा है ऋषि का संग क्या है मंत्र समूह है ज्ञान ज्ञान समूह ऋषि माने मंत्र भी होता है वेद मंत्र मंत्र जिसके सेवन किया अथवा ज्ञानियों के समूह ने सेवन किया है सेवितम तत्व ऐसा तत्व आत्मज्ञान है उसको पूर्वाचन कहा आगे और भी श्रुति है न कर्मणा प्रजया न प्रजया धने न त्यागे थे अमृत मानसु कैवल्य श्रुति है ऐसा कही थी कैवल्य श्रुति ये भी सिद्ध करती है कर्म से अथवा प्रजा से अथवा ध्यान से धन से वो आत्मतत्व प्राप्त होने वाला नहीं है न कर्मणा न प्रजया धने धन से भी प्राप्त नहीं होगा प्रजा से भी प्राप्त नहीं होगा कर्म से भी होगा किसे त्यागे ने कहा त्याग से ज्ञान होगा ज्ञान से आत्मस्वरूपाद यदि ज्ञान है मैंने ज्ञान का साधन रूप से त्याग को बताया त्यागे रहेगा खाली त्याग से तो मिलेगा नहीं त्याग के बाद ज्ञान होना पड़ेगा इन सब का त्याग करने के बाद ज्ञान होगा हाँ। अरे तब होगा आत्मतत्व प्राप्ति होगी कहा ये कहा त्याग से साक्षात अमृतत्व साधना भाव है त्याग जो है साक्षात आत्मतत्व प्राप्ति का साधन तो नहीं है ज्ञान है वो तो इसलिए त्यागे न साक्षात अमृतत्व साधन अभाव है ना अमृतत्व साधन ज्ञानम त्यागे न आनसु प्राप्त बनता है ऐसा है ये अमृतत्व माने आत्म प्राप्ति का जो साधन है वो ज्ञान है वो त्याग के द्वारा प्राप्त किया जिनको प्रजा आदि कुछ भी नहीं चाहिए स्वर्ग नहीं चाहिए इसलोक नहीं चाहिए ब्रह्मलोक नहीं चाहिए तीनों लोगों का जिसने त्याग किया है जो लोकेश्वर वित्तेषणा पुत्रेश्वर से ऊपर उठ गए वही आत्मतत्व को प्राप्त करें यम के माध्यम से कहा <clears throat> यदि अभिधान है इस वाक्य के द्वारा कथन के द्वारा ज्ञान साधन न त्याग अक्रमित है यहाँ ज्ञान के साधन रूप से त्याग का विधान किया इस वाक्य में और भी कहा है स्मृति में ज्ञातवा निष्कर्म हमारे स्मृति है जान करके निष्कर्म भाव को जाए कर्मा भाव को कहते हैं निष्कर्मा निष्कर्म का धर्म को नैष्कर्म बोलते हैं मान्य संन्यास नैष्कर्म संन्यास होता है ज्ञापवा जान करके तो जानने के बाद क्या संन्यास माने परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद संन्यास ग्रहण करें अपरोक्ष ज्ञान के लिए ऐसा कहा है स्मृति स्मृति में कहा ठीक है आपात तो ब्रह्म ज्ञातवा निश्चयार्थम नैष्कर्मम कर्म त्याग रूपम समाज संन्यासम आचरित स्मृति स्मृति का अर्थ यही है ऊपर ऊपर से आत्मज्ञान हो गया परोक्ष रूप से ज्ञान हो गया आपात तो ब्रह्म ज्ञान को ब्रह्म को जानकर निश्चय करने के लिए साक्षात्कार करने के लिए फिर क्या काम करे नैष्कर्म मैं कर्म त्याग रूपम संन्यास कर्म त्याग रूप संन्यास है ये संन्यास ग्रहण करे ऐसा स्मृति का अर्थ है और भी कहा ब्रह्माश्रम पदे वशे कहा है कहां बैठना चाहिए व्यक्ति को ब्रह्माश्रम में रहना चाहिए ऐसा आता है तो ब्रह्माश्रम का अर्थ क्या है ब्रह्म ज्ञान साधनभूत आश्रम ब्रह्माश्रम ये टीकाकार बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान के साधन स्वरूप जो आश्रम है वह है ब्रह्माश्रम मान संन्यास आश्रम तो ब्रह्माश्रम होता है तो ब्रह्म ज्ञान का साधन है वो तो ब्रह्म ब्रह्मज्ञान साधन होता आश्रम ब्रह्माश्रम संन्यास मैंने तो संन्यास है वो ब्रह्माश्रम उसमें रहे संन्यास में रहे स्थिति का अर्थ होगा ये स्थिति है क्यों अगर विविधिशु संन्यास विविधिशा संन्यास के बाद में अगर आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन को नहीं अपनाता है वेदांत आदि का श्रवण मनन व्यासन पूर्वक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं करता है वो जरूर गिरेगा ऐसे स्मृति में आया है शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवण बिना प्रसजन चंद्रिय ग्रामे नर पतन मृक्षण शिखा सूत्र परित्याग कर दिया कर्म का साधन छोड़ दिया है कर्म नहीं करेगा किंतु मोज मजा में लग गया वेदांत श्रवण नहीं करता आत्मज्ञान के साधन के बारे में नहीं जाता शिखा सूत्र परित्यागी वेदांत श्रवण बिना प्रसजन चंद्रिय ग्रामे इंद्रिय समुदाय में प्रसक्ति करता हुआ विषयों के आर्जन करने लगा नर पतन वृक्ष ऐसे व्यक्ति गिरने का प्राप्त होता है वो गिर जाता है ऐसा आया है किंच गीता के ष्ठ अध्याय में आत्मज्ञान के साधन पांच श्लोकों में बताया है वो भी यही प्रमाणित करती है संन्यास आश्रम है आत्मज्ञान के साधन वाला आश्रम है ये कहना चाहते हैं टीका के कहते हैं किंच एकाकी चित्तात्मा इत्यादि उपक्रम में यहां से लेकर के गीता ष्ठ अध्याय में ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित मन संयम चित्त आशित मत पर यहाँ तक इति ब्रह्मचर्य आदि साधन विधि बलाद अभी अर्थात संन्यास विधि ये आदि साधन का विधान है यहाँ कैसे कैसे साधक को रहना चाहिए योजन योगी उंजीत सततम आत्मान रहस्य स्थित यहाँ से आरंभ हुआ है ये प्रकरण छह पांच श्लोक है योगी उंजीत सततम आत्मान रहस्य स्थितम योगी हमेशा आत्मा में ही जुड़े रहे हम ब्रह्माष्टमी में जुड़े रहे एकांत में रह करके ऐसा काम करें योगी रहस्य स्थित एकांत में रहता हूं निराश्चर्य चित्तात्मा एकाकी हाँ। एकाकी यदि चित्तात्मा निराशीर परिग्रह अकेला रहे एकांत में रहे आत्मचिंतन में रहे करने लगे और एकाकी एकाकी ऐसा कहा एकाकी रहे यथचित्तात्मा अकेले रहने पर भी देखो बने भी दोषा प्रभवंती राजा अकेले रहने पर भी अगर मन में विक्षेप है तो परेशानी हो जाएगी और समाज में रहने की अपेक्षा ज्यादा विघटन होने की संभावना है इसलिए यथ चित्तात्मा कहा मन को नियंत्रण करके रखे मन नियंत्रण होना चाहिए मन के अधीन नहीं होना चाहिए यथ चित्तात्मा निराशी आशा न रखने वाले को निराशी निराशी बोलते हैं आशा रही तो आशा करने लग जाए तो वहां कहां बैठेगा अपरिग्रह परिग्रह नहीं होना चाहिए साधक के पास एक लक्षण है साधक के गीता के ष्ठ अध्याय जब बताया है योगी उंजीत सत्वम आत्मान रहस्य पिता एकाकी चित्तात्मा निराश परिग्रह दूसरे में कहा आसन कहाँ बैठा है सुचौ देश प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मा नाति नातिविचम चैलाजन कुशोत्तरम ऐसा कहा पवित्र स्थान में आसन होना चाहिए स्थान की पवित्रता एक तो स्वाभाविक है तीर्थ नदी पर किनारा हो देवालय हो ये सब स्वभावत स्वाभाविक शुद्ध होते हैं पवित्र होते हैं और कुछ को मिट्टी गोबर आदि से लिपाई करके शुद्ध किया जाता है उन्हें शुद्धि करते हैं शुच उद्देश्य से प्रतिष्ठा पवित्र स्थान में अपने आसन रखना चाहिए क्या आसन रखे स्थिरम आसनम आत्मा अपने आसन स्थिर आसन होना चाहिए और कैसा होना चाहिए कहा स्वचौदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन नात्युत्थम नाति नीचम ज्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए गिरने का संभव होगा ज्यादा नीचा भी नहीं कीड़े मकोड़े आने की लगने की संभावना है नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम सबसे नीचे कुशा होना चाहिए मैंने शीलन न खा जाए उसके ऊपर में चर्म होना चाहिए उसके ऊपर में वस्त्र होना चाहिए चैलाजिन कुशोत्तरम फिर वह आसन में बैठ के क्या करना है तब तत्र एकाग्र मन कृत्वा ऐसा है उस आसन में तत्र एकाग्र मन कृत्वा यथा चित्त विवेक किया मन और इंद्रियों के चेष्टा को रोक करके उस आसन में बैठ उपस्य आसन है युजात योगम आत्मविशुद्ध है उस आसन में बैठकर योग करने लग जाए आत्मविशुद्धि के लिए आत्मविशुद्धि माने मनोविशुद्धि के लिए मन है ऐसी फिर आया प्रशांत आत्मा भी का वेद ब्रह्मचारी ऐसी स्थिति वहां रह करके आत्मा जिसकी प्रसन्न मन प्रसन्न होना चाहिए प्रसन्न प्रसन्नात्मा विगत भी भय नहीं होना चाहिए ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित ब्रह्मचर्य व्रत में रहना चाहिए विगत ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित मन संयम में मन को नियंत्रण करे मत चित्त संसार में चित्त नहीं जाना चाहिए मेरे में चित्त होना चाहिए अहम चित्तो जैसे सा मत चित्त मैं चित्त वाला हूं मैंने आत्मचित्त वाला हो जाए आत्माकार वृद्धि में बैठे मत चित्त ऐसा कहा समय मत चित्त युक्त तो मत पाया मत पर युक्त आशिता मत परायण होकर के रहे आशित लिंग लगा रहे आशु प्रवेशन है ऐसा बैठे ये पांच श्लोक हैं तो गीता में कहा है ये कहते हैं किंतु एकागीयत चित्तात्मा इत्यादि उपक्रम में यहां से लेकर के गीता ष्ठ अध्याय में ब्रह्मचारी प्रतिष्ठित मनस्म में चित्त युक्त आशित मतलब जानते ना ब्रह्मचर्य आदि साधन बिले बता देंगे ब्रह्मचर्य आदि साधन ये सब आत्मदर्शन के साधन बताए कहा कैसा कैसा रहना अनेक साधन है यहाँ एकांत में रहना है एकाकी रहना है आत्मसंयम करना है मन को रोकना है इंद्रिय को रोकना है यह सब साधन है ये साधन विधि बला ये साधन विधि के बल से भी अर्थ से सिद्ध होता है संन्यास ये सन्यासी में ही हो सकता है ये अन्य आश्रम में संभव नहीं सारे साधन इसलिए भी विविधिशा संन्यास है ये कह रहे हैं इसलिए कहा ब्रह्मचर्यादि विद्या साधना नाम साकल्य न अंत्याश्रमी से उपत्ति अंत्याश्रमी है ये संन्यास आश्रमी उसे भी सिद्ध होने से गारस्ते असंभव गृहस्थाश्रम में संभव नहीं है सब साधन इसलिए विष संन्यास आश्रम है कहा अच्छा ठीक है मैं आगे ननु ऋतु काल मात्र गमन लक्षण ब्रह्मचर्य कदाचित ध्यान काले एकाकित्वादिकम न संभवती इति तस् तस्य साधन तथो ज्ञानासिद्धेर ध्यान काले पत्नी संबंधा प्रसक्ते तद विधि वैयथ्याच नैवम विद्या तो समुच्चयवादी कहते हैं नहीं गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी गृहस्थ्यादि ऋतुकाल मात्र भार्यागमनम ऋतुकाल में जाना गमन करना उनको ब्रह्मचर्य माना हुआ है ऋतु भार्या गोपेया इसको ब्रह्मचर्य माना हुआ है और कदाचित ध्यान काले एकाकी तो हमेशा तो पत्नी के साथ ही रहेगा किंतु जब उसको ध्यान करने लगेगा तो अकेला रहेगा भी कभी कभी अकेला भी हो जाता है वो इसलिए ये साधन उसमें भी है ब्रह्मचर्य आदि साधन एकाकी रहना एकाकी रह जाता है वो भी ध्यान काल में और ऋतु काल में ही पत्नी के साथ सहगमन करने से ब्रह्मचर्य भी उसमें माना जाता है गृहस्थ के लिए नो गृहस्थ से अभी ऋतुकाल मात्र गमन मतलब लक्षण ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य है उसके पास और कदाचित ध्यान काल कभी कभी ध्यान काल में एकाकित्व आदि सब अकेला भी होता है वो तो एकाकी गीता का वो भी घट जाएगा ब्रह्मचर्य साधन भी घट गया उसमें गृहस्थम संभव संभव शंका करके कहते हैं तस्व अपुष्कल साधन ठीक है कभी कभी होता है पुष्कल नहीं हमेशा नहीं होता हमेशा ब्रह्मचर्य होना चाहिए हमेशा एकाकी होना चाहिए वो साधन पुष्कल नहीं है संपूर्ण रूप से न होने तो ज्ञान असिद्ध ऐसे अधूरा साधन से ज्ञान नहीं हो सकता पूर्ण साधन चाहिए तो गृहस्थ आश्रम में ज्ञान के साधन पूर्ण नहीं हो सकता ये कहते हैं और ध्यान काले पत्नी संबंध अप्रसर दूसरी बात वहां एकाकी कहना भी व्यर्थ पड़ जाएगा अगर गृहस्थाश्रमी के लिए कहना हो तो क्यों ध्यान काल में पत्नी का संबंध प्राप्त ही नहीं है फिर एकाकी विशेषण व्यर्थ ही पड़ेगा जब ध्यान में बैठेगा तो पत्नी नहीं रहेगी उस काल में फिर एकाकी विशेषण क्यों व्यर्थ पड़ेगा विशेषण तो व्यावृत्ति के लिए होता है ध्यान काले पत्नी संबंध सकते है पत्नी का संबंध प्राप्ति भी नहीं है ज्ञान काल में इसलिए तद वही अत्याप्त ध्यान या का विधान जो किया गीता में वो भी ग्रंथ पड़ जाएगा गृहस्थों के लिए कहना हो तो इसे नैव इसलिए ये गृहस्थाश्रम में हो नहीं सकता पुष्कल साधन नहीं हो सकता ये कहना चाहते हैं टिप्पणी तीन नंबर की तद विद्वय अत्याप्त एकाकित्व पत्नी असंबंधो विवक्षित है वो जो गीता में एकाकी शब्द कहा है पत्नी का संबंधन हुआ यह विवक्षित है जो एकाकी यदि चित्तात्म में आया हुआ एकाकी शब्द का अर्थ पत्नी न हो ये उसका अर्थ होता है एक विवक्षित है तस्य ध्यान काले प्राप्तत्वा देव वो पत्नी का असंबंध ध्यान काल में तो प्राप्त ही है फिर उसका एकाकी विधान व्यर्थ पड़ेगा गृहस्थ आश्रम के लिए कहना हो तो ये कहा तद विधान अनर्थक निर्भाव कहा तो भाष्य में कहते हैं न तो असंपन्नम साधनम कश्य अर्थ से साधना कोई भी आपको कार्य करना है सिद्ध कर कोई भी कार्य की सिद्धि करना हो तो संपूर्ण साधन नहीं होगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होती है अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना ये सारे साधन चाहिए अन्य आश्रम में संभव नहीं इसलिए संन्यास आश्रम है ये कहना चाहते हैं न तो असंपन्नम साधन कक्षित अर्थ से साधन आए अलम जो असंपूर्ण साधन होगा संस्कृत नहीं जो तो साधन पूर्ण रूप से संस्कृत नहीं ऐसे साधन जो होते हैं कोई भी किसी भी अर्थ का सिद्धि के लिए समर्थन नहीं होता साधन और यद विज्ञान उपयोगिता कर्म गारिस्थ्या कर्म कर्माणी तेषाम परम फलम संभृतम देवता अपने लक्ष्य संसार विषय कहते हैं तो निष्काम व्यक्ति यदि माने ज्ञान के उपयोगी कुछ का नित्य कर्मादि करता है वही गृहस्थाश्रम में जो कर्म हो रहा है विज्ञान के उपयोगी आत्मज्ञान के उपयोगी कर्म कुछ हो रहा है वो आश्रम कर्म मतलब गृहस्थाश्रम में कर्म है और ज्ञान के उपयोगी कर्म कुछ है माने ज्ञान के लिए सहयोगी हो जाते कर्म वो कर्म तेषाम उन कर्मों का फल परम फलम उपसंभृतम उपसंगात कर दिया है पूर्व में तैतरे आरभ में दो दो चार में कर दिया देवता आपके लक्षण ये सारा फल होगा देवता की प्राप्ति हिरण्य की प्राप्ति गृहस्थाश्रम जो कर्म किया है उसका फल हिरण्य की प्राप्ति बता दिया है वो प्रथम पृष्ठ में कहा था ये भाष्य के प्रथम पृष्ठ में कहा था शुरू में कहा था हिरण्य गर्भ प्राप्ति फल है बताया था कहा था संसार विषय में वो तो संसार विषय के हिरण्य गर्भ भी तो पैदा होता है हिरण्य गर्भ समवर्त सबसे पहले वही है भूत से जात का आशित संपूर्ण प्राणियों के अधिपति रहा है वो हिरण्य गर्भ हिरण्य गर्भ समवर्त और स्मृति में कहा सवई शरीर प्रथमा सवई पुरुष उच्चते आदिकर्ता भूता नाम ब्रह्माग्रे समवर्त ऐसा स्मृति में भी है वही प्रथम शरीरधारी वही है सृष्टि के में जब देखते हैं तो प्रथम शरीरधारी सूक्ष्म शरीर का पुंज है वो हिरण्य गर्भ सबई शरीर ही प्रथम सबई पुरुष उच्चते उसी को पुरुष शब्द कहा है आदिकर्ता सभूता नाम सारे भूतों के प्रथम कर्ता वही है वहीं से सृष्टि शुरू हुई है भूतान ब्रह्माग्रह समवर्तता वो ब्रह्म सबसे पहले उत्पन्न हुआ है ऐसा कहा हिरण्यगर के वो, संसार संसार के भी है वो हिरण्यगर प्राप्त होना भी संसारिक फल है ये बता दिया है टीका से देखें अतो न न तो न कर्मनिष्ठत्व कर्म संबंधित आत्मज्ञान से इसलिए ये सिद्ध हुआ अब तक पूर्वादी का जो पक्ष था वो सिद्ध नहीं भाष्य में अच्छा यद विज्ञान यद शब्द टीकोक्त दिशा अत्यारण नेतृत्व यहाँ यद नहीं कहना चाहिए यानी विज्ञानानी होना चाहिए था विज्ञानानी जब बहुवचन है यानी बोलना चाहिए या टीका में यद शब्द है इसलिए कहना चाहते हैं यहां भी यत बोल दिया भाष्यकार ने बोला चाह रहे हैं ये टिप्पणीकार करें यथ शब्द जो है यद विज्ञान यद शब्द जो भाष्य में प्रयोग कर दिया टीकोक्त दिशा अध्यारण टीका में जो कहा है उसको लेकर के टीका में ऐसे ही कहेंगे यद शब्द से बोलेंगे कहा इसको लेकर के कहा ये बोलना चाह रहे अच्छा अन्यथा यानी किसी आपने तो भाष्य में विज्ञानानी बहुवचन है तो यानी होना चाहिए तो टीका में यथ बोला हुआ इसलिए यथ बोल दिया भाष्यकार ने उसका अध्ययन किया है माने ये विज्ञान उपयोगी नहीं कहा हुआ है आश्रम के जो कर्म है विज्ञान के उपयोग क्या है विज्ञान के उपयोगी विज्ञान शब्द से क्या लेना है क्या अर्थ है विज्ञान उपयोगी क्या ये प्रश्न उठेगा जो विज्ञान उपयोगी कर्म आश्रम है उसका परम फल बता दिया देवता स्वरूप हो जाना हिरण्य अभाव होना तो यहाँ विज्ञान शब्द से क्या लेना है ये प्रश्न उठता है विज्ञान उपयोगी नीति को अर्थ शुद्धि द्वारा साधना नहीं अर्थ हो गया शुद्धि के द्वारा साधन अंतकरण शुद्धि के माध्यम से आत्मज्ञान के साधन को विज्ञान उपयोगी कहा यह सामान्य अर्थ हो गया आगे पूर्वादि बोलता है मातावत ऐसा फलम संसार विषय जब शुद्धि के द्वारा आत्मज्ञान का साधन है विज्ञान शब्द का अर्थ लेना है यहाँ तो फिर मात आवत तेसाम फलम संसार विषय तावत तेसाम फलम मां संसार विषय तो मा माता नहीं मां अब वो है निषेधार्थक है तावत माँ तेसाम फलम संसार फिर तो तब तो संसार विषय फल नहीं होगा उनका विज्ञान उपयोग विज्ञान शब्द से क्या अर्थ आया तो सिद्धांत पूछते हैं क्यों तो कहते हैं विज्ञान को लेना चाहिए विज्ञान का अर्थ विज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान के साधन माना चाहिए विज्ञान लेना चाहिए तब सिद्धांत का तर्क ही हिरण्य गर्भ उपासना विज्ञान शब्द कर हिरण्य के उपासना योग है यदि विज्ञान उपयोगी कर्माणी कहा विज्ञान के साथ होने वाले कर्म है तो हिरण्य गर्भ उपासना मान लो कर्म और उपासना से हिरण्य गर्भ प्राप्ति होती है तभी हिरण्य गर्भ उपासनी तत्संबंधी साक्षात भी कहा तब तो यही अर्थ करो विज्ञान शब्द का अर्थ ले लो हिरण्य गर्भ उपासना कोई तो साधु है ये उपास ये बता दिए ठीक में कहते हैं आगे अतो न कर्मनिष्ठत्व तो कर्म संबंधित जो आत्मज्ञान से करते इसलिए आत्मज्ञान न तो कर्मनिष्ठ है न कर्म संबंधी है सिद्ध हो गया कहा क्यों अन्य अन्य आश्रमों में पूर्व आत्मज्ञान के साधन नहीं है ये सिद्ध होगा आगे यत्तु यही यत को लेकर के कहा यद विज्ञान उपासना आगे यत्तु कर्मतः बृहति शास्त्र लक्षण प्रस्तुत आह आत्मज्ञानम प्रारभते इत्यादि ना कर्म संबंधित उत्तम तत्र आह वहां ले जाकर अन्वय करना जो यह कहा कहते हैं पूर्वादि का क्या कहा पूर्वादि ने यत्तु आह जो कहा क्या कहा कर्म च बृहति शास्त्र लक्षण कर्म जो बृहति शास्त्र नामक कर्म के आरंभ करके प्रस्तुत के आरंभ करके आत्मज्ञान प्रारंभ थे पहले कर्म का प्रसंग क्या है आत्मा वा अग्रे आश्रित के पहले बृहति शास्त्र नाम के कर्म के प्रकरण है आरंभ में उसके बाद ये आत्मा भी इधम अग्रे आशित आया तो कर्म के प्रकरण आरंभ करके उसमें आत्मज्ञान आदि एक ही व्यक्ति है वो पूर्वापर करने वाला एक ही व्यक्ति है और तो कर्म गृहस्थाश्रम में होता है तो आत्मज्ञान भी गृहस्थाश्रम में होता है ये पूर्वाज ने कहा यू आह कर्म च बृहति सहस्त्र लक्षण प्रस्तुत चतुर्थ पृष्ठ में भाष्य में कहा था पूर्वादि चतुर्थ पृष्ठ में ऐसा पंक्ति थी उसकी ऐसे यत्तु आह कर्म च बृहति सहस्त्र लक्षण प्रस्तुत आत्मज्ञान प्रारभ्य थे ये बृहति सहस्त्र नामक कर्म का आरंभ करके आत्मज्ञान का प्रारंभ एक ही करता है दोनों एक ही करता है तो कर्म इसलिए कर्म संबंधी होता है आत्मज्ञान और कर्म गृहस्थाश्रम में होता है इसे आपने गृहस्थ गृहस्थाश्रम में होता है ये पूर्वादि का संन्यास आश्रम नहीं है ये पूर्वादि ने कहा था तत् उसके उत्तर में कहते हैं कि यद विज्ञान हुई बनी कार्यस्थ कर्माणी तेषाम परम फलम उपसंगतम देवता अपने लक्षण संसार के समय पूर्व में जो कुछ भी कहा था वो सब हिरण्य प्राप्ति संबंधी हो गई है तथा पूर्वोक्तम कर्म संबंधी ज्ञानम संसार फलकम अन्य देव पूर्वोक्त जो कर्म फल वाला कर्म संबंधी ज्ञान है ज्ञान मैंने उपासना है वो पूर्वोक्त ज्ञान शब्द का तो उपासना है पूर्वोक्त पूर्वोक्त तो कर्म संबंधी ज्ञान है कर्म और उपासना का समुच्चय करने में कोई परेशानी नहीं होती है वो जो ज्ञान मैंने उपासना है संसार फलकम अन्य देव अन्य ज्ञान है वो आत्मज्ञान नहीं है वो अन्य देव तत्व उपसमृतम उसे उपसंहार भी कर दिया देवता पे लक्षण करके बता दिया है वहां अच्छा उपसमृतम उपसंहार हो गया न तत् परमात्म ज्ञानम वो जो संसार फल ज्ञान है वो परमात्म ज्ञान नहीं है इसलिए परमात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे के मंत्रों का व्याख्या करनी है आत्मा पर इतमग्र आशित की व्याख्या करनी है ये कहना चाह रहे अच्छा आगे पूर्वाधिक कहता है नो वे वह परमात्म ज्ञानम जो पूर्वोक्त ज्ञान है वही है पूर्व में जो कहा था द्वितीय पृष्ठ पूर्वादि ने कहा था माने वो कर्म संबंधी ज्ञान वही ज्ञान मुख्य आत्मज्ञान है पूर्वोत्तम है वो परमात्मा ज्ञान वही परमात्मा ज्ञान है तत्व कर्म संबंधी है वो कर्म संबंधी होता है वो ज्ञान जो कर्म प्रकरण में हो यदि आशंका ऐसा पूर्वादी की शंका होगी समुच्चयवादी की तस् सिद्धांत कहते हैं तस् संसार फलक वो तो संसार फलक है देवता पे लक्षण है वो हिरण्य गर्भ की प्राप्ति है संसार फलक होने से उपसंगार उपसंगार कर दिया गया है परमात्मा ज्ञान से मुक्ति फल परमात्मा ज्ञान तो मुक्ति देने वाला संसार फल वाला नहीं है इसलिए न तत् परमात्मा ज्ञान पूर्वोक्त ज्ञान परमात्मा ज्ञान नहीं है यही कहना चाहते हैं यदि कहा भाष्य यदि कर्मिणा एवं परमात्मा विज्ञान अभविष्य यदि कर्मी को ही आत्मज्ञान हो जाए परमात्मा ज्ञान अभविष्य यदि हो जाए तो क्या होगा संसार विषय से तो फल उपसंहार न उपवास फिर संसार विषय का फल का उपसंहार नहीं करना चाहिए था उपसंहार किया है देवता एक एक प्राण से आत्मभाव गचन देवता अत्यति ऐसा फल का उपसंहार कर चुके हैं पूर्व ये कहा यदि कर्मिण एवं परमात्मा विज्ञान अवश्य यदि कर्मी को ही कर्म करने वाला जो व्यक्ति हो उसी को परमात्मा विषय ज्ञान हो जाता तब तो संसार विषय से फल से उपसंहार न उपावश्यत फिर संसार विषय फल का उपसंहार नहीं होना चाहिए था किंतु उपसंहार कर दिया है कर दिया है प्रथम पृष्ठ में कहा है यथस्य प्राण से आत्मभाव गच्छन देवता अत्यति ऐसा बोल दिया है उसे उपसंगार कर चुके हैं ये सिद्धांत है पूर्वादि बोलता है कि नहीं वो आत्मज्ञान का फल है या अंग का फल है आत्मज्ञान के अंग का फल है अंग फलम से तत् नाम पूर्वादि बोलता है वो आत्मा का आत्मज्ञान का फल ये उसका आत्मज्ञान के अंग का फल है आत्मज्ञान का अंग कर्म है वो कर्म का फल हो गया अंग का फल है पूर्वोक्त वासना अधिकतम अंग फलम चेत तद चेत सिद्धांत नाम तद विरोधी आत्मवस्तु विषयात आत्मविद्या जो कर्म के विरोधी है आत्म आत्म के आत्म विरोधी वस्तु को विषय करने वाला आत्मविद्या उसका फल नहीं हो सकता है अंग फल नहीं हो सकता तद विरोधी आत्मवस्तु विषयत्वाद आत्मविद्या क्योंकि कर्म के फल के विरोधी अज्ञान के विरोधी है कर्म का विरोधी अज्ञान का विरोधी जो आत्मवस्तु विषय करने वाला आत्मविद्या है सिद्धांत का आगे निराकृत सर्वनाम रूप कर्म परमार्थ आत्म वस्तु विषय ज्ञान अमृतत्व साधन अमरत्व के साधन यही ज्ञान होता है संपूर्ण नाम रूप कर्म का निराकरण करके परमार्थ वस्तु को विषय करने वाला जो ज्ञान होगा सबको खंडन करके नेदम नेदम नेदम करके खंडन करने के बाद जो परमार्थ वस्तु का ज्ञान होता है वो होता है मुक्ति देने वाला ज्ञान गुणफल संबंधे ही निराकृत सर्व विशेष आत्म वस्तु विषयत्म विज्ञान प्राप्त होती हाँ। और उसके गुण फल मानेंगे अंग का फल मानेंगे उसको तो उस स्थिति में क्या होगा निराकृत सर्व विशेषात्म वस्तु विषय तो विज्ञान में प्राप्त नहीं होगा संपूर्ण वस्तु का खंडन करके विज्ञान में नहीं आ सकता बात तच्च अनिष्ट ऐसा करना अनिष्ट होगा क्योंकि आत्मज्ञान तो संपूर्ण वस्तु का निराकरण पूर्वक ही होता है क्यों यत्र तो अश्य सर्वम आत्मविभाभूत ऐसा कहा जिस अवस्था में आत्मज्ञान इस तरह से होता है जिस अवस्था में सबके सब आत्मरूप हो गए पहले संसार रूप दिख रहा था अब आत्मरूप हो गए ऐसा दिखता वाक्य है आत्मज्ञान के विषय में यदि अधिकृत्य ऐसे विषय बना करके क्रियाकार फल आदि सर्व प्रभाव निराकरण विदेशा ज्ञानी के लिए ऐसा सत्य सब निराकरण किया सबके सब आत्मा को गए वहां कारण भी नहीं है क्रिया भी नहीं है कारक भी नहीं कुछ भी नहीं सब आत्मा को हो गए पहले अन्य बन करके अन्य आदि को देखना करना होता था कारक था क्रिया था वस्तु थे पहले थे अब सबका निराकरण करके यत्र सर्वम आत्मविभाव हो सब के सब क्रिया कारण कारक सब एक हो गए ऐसा कहा है यह आत्मज्ञान है तद विपरीत से अभिकुश हो और उसे आत्मज्ञानी से विपरीत जो अज्ञानी होगा उसके कहा यत्र ही द्वैतम होती तद इतर इतरम पश्यति इत्यादि वाक्य वहां क्रिया कारक दिखाया है कर्ता कारक आदि दिखाया है कर्म क्रिया तीन दिखाया है यत्र ही द्वैतम विभवती इत्यादि कहा तद इतर इतरम पश्यति इत्यादि कहा यदि उक्तवा क्रियाकारक फल रूप से संसार से दर्शित संसार यही है क्रियाकारक फल स्वरूप संसार होता है संसार दिखाया अज्ञान को तो संसार मिलता है दिखाया है बाजस नहीं ब्राह्मण ऐसा दिखाया है वृद्धा तथा यहाँ भी यहाँ भी जब हम ऐतिरोपनिषद में देखते हैं यहाँ भी यहाँ भी देवता अपने संसार विषय फलम पूर्व में कहा जो प्राणात्म भाव को प्राप्त होने को कहा था वो देवता आपके विषय संसार विषय में फलम यद फलम असनायादि वस्तुआत्मक वो भूप्यास आदि वस्तु वाला है वो फल तत्फल उपसंग्रित उस फल का उपसंहार करके केवल सर्वात्मक वस्तु विषय ज्ञानम अमृतत्वाय बक्ष्यामी प्रवर्तन आगे स्मृति ये उसके लिए प्रवृत्त होती है कि केवल आत्म संबंधी ज्ञान को बताऊंगी करके स्मृति की प्रवृत्ति होती है आगे ये कहना चाहते हैं ठीक है कर्मनिष्ठत्वेला उत्तम उक्त ज्ञान एवं परमात्म ज्ञान चेत इत्यर्थ यदि यदि कर्मिणा एवं परमात्म ज्ञान अभविष्यत यदि कर्मी को ही परमात्म विज्ञान हो जाता आत्मज्ञान हो जाता इसका अर्थ कर रहे हैं कर्मनिष्ठत्व न परमात्म ज्ञान यदि कर्मनिष्ठ होने से उत्तम ज्ञान उक्त ज्ञान में परमात्म ज्ञान हो जाए तो कर्मनिष्ठ होने के कारण वो जो ज्ञान पूर्व ज्ञान उक्त ज्ञान परमात्म ज्ञान यदि होता तो क्या होता फिर संसार विषय फल का उपसंहार नहीं होना चाहिए परमात्मा ज्ञान का फल तो मोक्ष है किंतु यहां संसार फल उपसंहार किया है ये कहना चाहते हैं परमात्मा ज्ञानांग भूत पृथ्वी अग्नि देवता ज्ञान से तत् संसार फलम नांगिना परमात्मा ज्ञान से न तस्य मुक्ति फल के तो विरोध है शंका शंका करता है महाराज वो अंग फल है जो पूर्वोक्त देवता भाव को प्राप्त होना अंग का फल है क्या है अंग परमात्मा ज्ञान का अंगभूत होते हैं पृथ्वी अग्नि देवता इनको जानना है परमात्मा ज्ञान के लिए अग्नि पृथ्वी आदि देवता को जानना है परमात्मा ज्ञान के अंगभूत जो पृथ्वी अग्नि आदि देवता ज्ञान उन देवताओं का ज्ञान है वो ज्ञान क्या होता है तत् संसार फलम वो अंग ज्ञान का फल है संसार मिलना पूर्वोत्तर तो देवता आपके लक्षण किया है वो परमात्मा ज्ञान के अंगभूत अग्नि पृथ्वी आदि का अंग ज्ञान उस ज्ञान का फल हो गया देवता आपके लक्षण अंगी ज्ञान का फल तो बोक्ष ही है ये पूर्वाधिक जाएगा नांगिना परमात्म ज्ञान जो अंगी परमात्म ज्ञान है उसका फल संसार नहीं उसका फल तो मोक्ष ही हो जाएगा न तस्य मुक्ति फल का विरोध है इसलिए मुक्ति फल में विरोध भी नहीं है अंग ज्ञान से मिल जाएगा संसार और अंगी ज्ञान से मिल जाएगा मोक्ष ये शंका है पूर्वाजी का एक पूर्वाजी का अंग फलम तद जेत ऐसा है तो संसार हिरण्य गर्भ की प्राप्ति बताई थी तो अंग का फल है अंगी का फल नहीं परमात्मा ज्ञान का फल नहीं अंगी उसी परमात्मा ज्ञान के ही अंग बना था पृथ्वी अग्नि आदि देवता का जो ज्ञान हुआ था वो अंग ज्ञान था उसका फल हो गया किंतु अंगी ज्ञान अंग से तो मिलेगा संसार और अंगी ज्ञान से होगा मोक्ष दोनों हो जाएगा ये पूर्वाधिक अच्छा तो टीका में कहते हैं परमात्मा ज्ञान से अंग संबंध फल संबंध आदि सर्व विशेष रहित निर्विशेष वस्तु विशेषता देखो भाई परमात्म ज्ञान जो होता है ना तो अंग के साथ संबंध करता है ना फल के साथ संबंध करता है उसका अंग भी नहीं होता फल भी नहीं होता ये सिद्धांत बोलते हैं परमात्म ज्ञान से अंग संबंध फल संबंध आदि सर्व विशेष रहता निर्विशेष वस्तु विषय तो निर्विशेष वस्तु को विषय करता है जिस जिस वस्तु का न अंग के साथ संबंध है न फल के साथ संबंध है आत्म वस्तु का किसी के साथ भी संबंध नहीं परमात्मा ज्ञान है सब परमात्मा ज्ञान है सब परमात्मा ज्ञान से अंग संबंध फल संबंध आदि सर्व विशेष रहित निर्विशेष वस्तु विषयत्व ऐसे वस्तु को विषय करता है परमात्म ज्ञान फल संबंध भी नहीं जिस वस्तु में अंग संबंध भी नहीं होने से न तस् अंगादि संबंधित तो इसलिए ज्ञान में भी अंगादि संबंध नहीं हो सकता ये तद अंग विषय तुम उक्त फल से जिससे कि आत्मज्ञान का उसका आत्मज्ञान का अंग का विषय हो जाए उक्त फल माने हिरण्य प्राप्ति हो ही नहीं सकता ये बता दिया परिहार टिप्पणी थी एक अंग संबंध आदि में तीन नंबर अंग संबंध आदि सर्व विशेष निपाठ या दो बार संबंध शब्द दिया है अंग संबंध फल संबंध टीका में दो बार संबंध है कहते हैं यहां पर अंग संबंध आदि सर्व ऐसा कहने से काम चल जाएगा हाँ। या अंग संबंध आदि कहने से फिर फल संबंध लेने की आवश्यकता नहीं आदि लगाने से फल भी आ गया टीका में दो बार अंग संबंध फल संबंध का फल संबंध को हटा दीजिए अंग संबंध आदि बोल दीजिए काम चल जाएगा ये टिप्पणी कार का है ऐसा पाठ है बोला अच्छा इसे कहा नतत करके भाषा में कहते हैं नतत विरोधी तद विरोधी आत्मबुद्धि विषय आता आत्मज्ञान जो अंग ज्ञान का फल संसार प्राप्त होना उसे विरोधी आत्मज्ञान उसको विषय करता है आत्मज्ञान को मान तद विरोधी जो मुक्ति है संसार से विरोधी मुक्ति उसको प्राप्त कराने वाला आत्मज्ञान होता है उस फल वाला होता है विषय करता है ठीक है आगे तदेव स्पष्ट उसी को स्पष्टीकरण करते हैं निराकृत कहा निराकृत सर्व विशेष आत्म विषयत्व विज्ञान से न प्राप्त होती कहा निराकृत जो सर्व विशेष आत्म विषय विज्ञान है वह फल में प्राप्त नहीं हो सकता अगर वो प्राप्त हो मतलब अनिष्ट हो जाएगा तत्व अनिष्टम टीका में कहते हैं आगे आत्मा वही इत्यादि भी उपक्रमादि लिंग आत्मा वही यहां से आरंभ करिए उपनिषद आरंभ कर उपक्रम आदि उपक्रम उपसंहार आदि जो लिंग षडलिंग से विचार करने से लिंग आत्मा निर्विशेष सत्य सिद्ध आत्मा निर्विशेष सिद्ध होता है आगे के प्रकरण से सिद्ध हो जाता है उसके साथ में कोई अंग ज्ञान का संबंध भी नहीं होता फल ज्ञान का संबंध भी नहीं होता निर्विशेष में कोई संबंध नहीं होता बाज शनि ब्राह्मणे च परमात्म विदा सर्व संबंध शून्यत्व मुक्वा हाँ। इसमें वृद्धार्मिक में परमात्मा व्यक्ता को सर्व संबंध सुनाई पड़ता है उसके साथ क्रिया कार्य के साथ किसी का संबंध नहीं है आत्मव्यक्ता को कहा हुआ है परमात्मा विद जो आत्मज्ञानी है उसका सर्व संबंध शून्यत्म होगा सर्व संबंध रहित कथन करके अभी तो संसार के सर अज्ञानी को संसार फल भी बताया वहां बृहदारण्य उपनिषद परमात्म ज्ञानत्व मुक्ति फलत्व से इसलिए क्या होगा उक्तवा उगते यह संसार फलक से अतीत ज्ञान से न परमात्मक ज्ञान पूर्व में कहा हुआ जो संसार फलक ज्ञान था वो परमात्म ज्ञान नहीं हो सकता क्यों वृद्धारण में परमात्म ज्ञान अलग कहा है संसार फलक ज्ञान अलग कहा अज्ञानी वो कहा हुआ है संसार फल वाला ज्ञान यत्र ही द्वैत में बहुत ही तत्र इतर इतर तद इतर इतरम पश्यत इत्यादि है और परमात्म ज्ञान में यत्र तो सर्वम आत्मा ही भाव तत्के कम पश्य दिखाया हुआ है इसलिए बाद ब्राह्मण तो का सर्व संबंध शून्यत्व होता परमात्मता का किसी के साथ संबंध नहीं होता क्यों सर्वम आत्मा का तो अभूत बोल दिया सब कुछ आत्मा ही हो गए अब कहा क्रिया किसको कौन देखेगा वहां ऐसा हो जाएगा अभी तो सब संसार होते अज्ञानी को कहा है यत्र तो इतर द्वैतम एवं होती जहां द्वैत जैसा होता है तब इतर इतर परिस्थिति इत्यादि दिखाया परमात्मा उपेश यहां भी संसार फलक से अतीत संसार फलक वाला जो अतीत ज्ञान था आपका उपासना है वो ज्ञान से न परमात्म ज्ञान तुम परमात्म ज्ञान हो नहीं सकता बक्षमाण से निर्विशेष वस्तु विशेष से ही परमात्म ज्ञान आगे जो आत्मा वग्रे आशित आदि वाक्य आएंगे उसके निर्विशेष वस्तु को विषय करने वाला ज्ञान होगा आगे वही होगा परमात्मा विश्व का ज्ञान मुक्ति फलत्म का वही मुक्ति फल देने वाला भी वही होगा ये कहा यत्र इत्यादि कहा ये ने कृतिया यत्र अश्य सर्वे आत्मा भगवान इत्यादि कहा था ठीक है तथा इहापि इति वाक्य फल पद द्वयपाठ एकम पदम निष्पाद्यवाथक निष्पाद्यवाद भी संसार विषय संसार संसार संसार अंतर्गत इति वक्तुम कहा तथा इहापि आगे बोलते हैं जैसे वहां है तथा इहापि देवता अप्य संसार विषय यद फलम असनाया असनादि मद वस्तुआत्मकम तत्फल या फल फल पद दो बार आया बोलते हैं इस वाक्य फल पद दो बार है ये टीकाकार बोल रहे हैं तथापि वाक्य फल पद द्वय पाठ एक बार आया है यद फलम और दोबारा आता है उसी में तत्फलम दो फल वाक्य है फल पद दो है भाष्य में ये बोल रहे हैं टीका में तथा यह भी यदि वाक्य इस वाक्य में फल पद द्वय पाठ है पाठ है जो फल पद दो बार पाठ आने पर एकम पदम एक पद जो फल पद होगा निष्पाद्यादि अर्थ निष्पाद्यत्व अर्थ निष्पाद्यत्व अर्थ एक का होगा निष्पाद्य अर्थ होगा फल का निष्पाद्यत्वाद अभी संसार विषय जो निष्पाद्य होगा बनाया जाता है वो संसार को विषय करेगा संसार संसार अंतर्गत में वक्त इसके लिए है फल माने निष्पाद्य होता है निष्पाद्य तैयार किया जाता है तैयार जो होगा वो क्रिया क्या बनाया जाए उत्पाद्य हो गया उत्पाद्य होने से संसार में विषय करेगा ये कहा आगे टीका में कहते हैं एवं कर्म असंबंधित ज्ञान से होगा आत्मज्ञान कर्म का संबंधी नहीं हो सकता है माने कर्म संबंधी नहीं तो कर्म निष्ठ भी नहीं है गृहस्थाश्रम में निष्ठ भी नहीं है इसी तक एवं कर्म असंबंधित ज्ञान से होगा यावत जीवादि श्रुते कर्म त्यागो न संभूति यद पूर्वादि न उत्तम तत्र यावत जीवादि श्रुते अविद्वत विषयत्व उत्तम कहते हैं पूर्वादि ने एक शंका उठाई थी कि यावत जीवादि श्रुति यावत जीवित अग्निहोत्र दिव्या ऐसे वाक्य है तो ज्ञानी हो अज्ञानी हो जब तक जीवन है अग्निहोत्र करना ही पड़ेगा तो कर्म रहित आत्मज्ञान हो नहीं सकता कर्म सहित है इसलिए कर्म सहित आत्मज्ञान गृहस्थाश्रम में होता है कर्म गृहस्थाश्रम में होना है इसलिए संन्यास में दूसरे प्रकार से उसने आक्षेप किया था इसके बारे में बोलते एवं कर्म असंबंधित ज्ञान से उक्त्या उक्ता अभी तक ये सिद्ध किया कर्म संबंधी नहीं है आत्मज्ञान स्वतंत्र है इसलिए संन्यास आश्रम है यह सिद्ध किया यावत जीवादि श्रुते कर्म त्यागों ने संबंध पूर्वाज ने जो कहा था यावत जीवादि श्रुति है कर्म का त्याग तो करने से था क्योंकि जब तक जीवन है कर्म करना है ज्ञान हो भी जाए तब भी जीवन भर तो कर्म करना ही है पहले तो जीवन भर कर्म करेगा संन्यास के लिए अवकाश ही नहीं मिलेगा त्यागना संभव ही नहीं और किसी प्रकार वही ज्ञान हो जाए तब भी कर्म त्याग नहीं सकता यावत जीवन है आयु आयु को लेकर के कर्म होता है तो कर्म त्याग हो नहीं सकता है कर्म गृहस्थाश्रम में होता है इसलिए गृहस्थाश्रम में भी किसी को ज्ञान हो गया है तो वही मुक्त हो जाता है मुक्ति माने देवता अपने स्वरूप है निरनगर प्राप्ति स्वरूप मोक्ष है यह ने कहा था एवं कर्म संबंधित तुम अज्ञान से उठवा यावत जीवादि श्रुते कर्म त्यागो तो संभव होती यावत जीवादि श्रुति है यावत जीवित अनुभव हुआ इसलिए कर्म त्याग होना संभव नहीं यदि यद पूर्वादि ना उत्तम ऐसा जो पूर्वादि ने कहा था तत्र यावत जीवादि श्रुति अविद्युत प्रसिद्ध सिद्धांत ने भी बता दिया यावत जीवादि श्रुति अज्ञानी के लिए है ज्ञानी के लिए नहीं ज्ञानी कर्म नहीं कर सकता है अज्ञानी क्यों ज्ञान होना माने यह है माने देहाभिमान को बाध करके होना है और अग्निहोत्र आदि करना देहाभिमान पूर्वक है हो नहीं सकता यह तर्क दिया था उसने यावत जीवाद श्रुतिर अविद्युत विषयत्व होता सिद्धांत ने उसका परिहार भी कर दिया खंडन कर दिया था ये यावत जीवाद श्रुति अज्ञानी को विषय कर दिया यदि अज्ञानी है तो उसको यावत जीवन अग्निहोत्र करना है वैदिक कर्म करना है ऐसा कहा संगति लगाई थी अब दूसरा एक आक्षेप किया एक प्रहार और किया था पूर्वाज ने जाय मानो वही पुरुष त्रिऋणवान भवती ऐसा कहा था तीन ऋण से युक्त होता है देवऋण पितृण ऋषि ऋण तीन ऋण से युक्त होता है जायमान जो भी पैदा होगा तीन ऋण लग गया ऋण लगने पर क्या होगा ऋण चुकाने के लिए कर्मादि करना पड़ेगा वो देवऋण के लिए तर्पण आदि करो पितृण के स्वाद आदि करो हवन आदि करो कर्म करो ऋषि ऋण के स्वाध्याय करो फिर संन्यास का अवसर ही नहीं है ये पूर्वादि ने एक प्रहार किया था एक कहना चाहते हिरण श्रुति रिदानी गति महा ऋण श्रुति का भी गति बताते हैं सिद्धांत गति निकालते हैं उसकी मैंने ऋण लगा है तो ऋण को चुकाते जो है जीवन चला जाएगा फिर संन्यास का अवसर नहीं आएगा ये कहना चाहते संन्यास आश्रम नहीं है पूर्वादि का कहना है उसको उत्तर देना चाहते हैं उसका ऋण प्रतिबंध अभिदुषा एवं मनुष्य पितृलोक पितृदेवलोक प्राप्ति प्रति न अभिदुषा कहा न विदुषा कहा पूर्वादि ने कहा था सात पृष्ठ में कहा था जायमान वही ब्राह्मणों त्रिभीर ऋणवान जाएंगे जायवान व्यक्ति जो होगा पैदा होता हुआ व्यक्ति तीन ऋण से युक्त होकर के पैदा होता है सप्तम पृष्ठ में ये पूर्वादि की पंक्ति पूर्वादि ने आक्षेप किया सात पृष्ठ में था तो ऋण का जो प्रतिबंध सुना गया है माने जब तक ऋण नहीं चुकाएगा आगे जा नहीं सकता है और ऋण चुकाने के लिए कर्म करना है कर्म करते करते जीवन पूरा जाना है संन्यास आश्रम नहीं है इस तरह से आक्षेप किया था सिद्धांत बोलते हैं ऋण प्रतिबंध अच्छा, ऋण का जो प्रतिबंध लगा हुआ है ठीक है वहां अभी दूसरा ये वो भी अज्ञानी के लिए ही है हृदय का प्रतिबंध मनुष्य पितृ देवलोक प्राप्ति प्रति अज्ञानी चाहता था मनुष्य लोग चाहता था पुत्र व अयम लोग को चाहिए ऐसा सुना है उसने पुत्र से ही इस लोग को जीतना है तो जाया नशा पुत्र की इच्छा के लिए पत्नी की इच्छा करता था पुत्र प्राप्ति के लिए लोग जीतना है इसने और कर्मणा पितृलोक और विद्या देवलोक तो अज्ञानी के लिए है ये कहा ऋण प्रतिबंध अभिदुषा एवं मनुष्य पितृ देवलोक प्राप्ति प्रति उसको मनुष्य लोग प्राप्ति के प्रति जब तक ऋण होगा पितृण चुकाएगा तब तक प्राप्त नहीं होना है ऋण के प्रतिबंध मनुष्य लोग पितृलोक देवलोक प्राप्ति के प्रति जो उसको प्रतिबंधक बना हुआ है उसको ऋण चुकाने के लिए ये तीनों कर्म करना है न विदुष ज्ञानी के लिए नहीं है वो भी उसको क्यों तीनों लोग चाहिए ही नहीं जिसको तीन लोग चाहिए तो प्रतिबंधक बनेगा तो ये इसके लिए इनको वो तीन ऋण चुकाना होगा उसको देव ऋण ऋण ऋषि ऋण को चुकाना होगा ज्ञानी को चाहिए ही नहीं जब फल नहीं चाहिए तो साधन क्यों करना है इसके लिए आवश्यकता नहीं ये कहा एक नंबर टिप्पणी ने कहा अध्ययन पर विद्या या देवलोक विद्यात्व अविद्यात्व सक्षम रहित अध्ययन को भी यहां अविद्या शब्द से ग्रहण किया जा सकता है विद्या या को बुला हुआ है अध्ययन से देवलोक मिलेगा तो देवलोक मिला अज्ञान के फल मिला अविद्या अविद्यात्व तो सत्यम प्रयत्न तो तो इसको भी यहाँ अविद्या शब्द से ग्रहण किया जा सकता जो विद्या देवलोक में विद्या शब्द है उसको अविद्या क्यों फल के फल दिखा करके फल तो उसको यही मिल रहा है ब्रह्मलोक मिल रहा है मोक्ष नहीं मिल रहा है ये कहा इसे देवलोक विद्या कहा क्यों स्वयं मनुष्य लोग पुत्र ऐसा है मनुष्य लोग चाहता है तो उसकी प्राप्ति पुत्र से ही होना है स्वयं मनुष्य लोग पुत्र इत्यादि और कर्मणा देवलोक के पर्णा पितृलोक विद्या देवलोक ऐसा मंत्र है इत्यादि लोकत्रय साधन नियम तीनों का तीन लोक के साधन सुनाई पड़ा है जब साध्य नहीं चाहिए तो साधन क्यों करेगा ज्ञानी साध्य नहीं चाहिए उसको न ईश्लोक चाहिए न पितृलोक चाहिए स्वर्गलोक चाहिए न ब्रह्मलोक चाहिए उसको नहीं करेगा साधन ये कहा विदुष ऋण प्रतिबंध अभाव दर्शिता और ज्ञानी को तो ऋण का प्रतिबंध नहीं है उस प्रतिबंध का अभाव दिखाया है कहा आत्मलोक आर्थिक जो आत्मलोक चाहने वाले हैं उनके लिए किम प्रजया करिष्याम हम ये प्रजा लेकर के क्या करेंगे प्रजा मिलने से क्या इस लोग जितना है हम लोग नहीं चाहिए किम प्रजया करिष्याम भाई ऐसा इत्यादि इत्यादि करके कहा है हम संतान लेके क्या करेंगे संतान होने से इस लोग जितना है लोग हमें चाहिए ही नहीं वो लोकेशन से ऊपर उठे हुए हैं किम प्रजया करिष्याम इत्यादि तथा यह दत्त ये तत् दसम वही तद विद्वांस आहुषया कावशया कहा इसी को बताया है उन विद्वान कावशे ऋषि ने कहा कहते हैं कावशे ऋषि कहते हैं ऐसा क्या कहते हैं वो कि किमर्था वयम अध्यास्याम है ऐसा आगे श्रुति शेष है हम किस लिए पढ़ेंगे ऐसा बोलते हम तो आत्मलोक चाहने वाले हैं संसार चाहने वाले है ही नहीं हम अध्ययन क्यों करेंगे द्वितीय देवलोक बोला अध्ययन से देवलोक मिलेगा हमें चाहिए नहीं वो कावश्य ऋषि ने ऐसा कहा यह तत् दसमवे तत्पूर्व विद्वांसो अग्निहोत्र मृदुवाचा इसी को जान करके पूर्व जो विद्वान थे उन्होंने अग्निहोत्र नहीं किया क्यों कर्मणा पितृलोक कर्म पितृलोक मिल रहा है स्वर्ग मिल रहा है उनको नहीं चाहिए तो ऋषि लोगों ने नहीं किया अग्निहोत्र नहीं किया ऐसा जब कौशी के नाम ऐसा कहा था टीका में है ऋण से अना ऋण से अनाप अनपाकृत मनुष्यादि लोक प्राप्ति प्रति प्रतिबंधकत्व ऋण यदि अपाकरण नहीं करने पर ऋण चुकाया नहीं प्रतिबंधक बन गया उस स्थिति में क्या होगा वो जो ऋण होगा अना, अना, अनापाकृत जो ऋण होगा वह मनुष्य आदि लोग के प्रति प्रतिबंधक होता है मनुष्य लोग नहीं मिलेगा और पितृलोग नहीं मिलेगा देवलोग नहीं मिलेगा प्रतिबंधक तद अर्थिन अभी अभिदुष एवं ऋण अपाकरण इसलिए जो मनुष्य आदि लोग चाहता है तदर्थी है कौन अज्ञानी उसी के लिए ऋण का अपाकर कर्म कर उसी लिए ऋण हटाना पड़ेगा तभी उसको चाहिए प्रतिबंधक हटाना होगा न मुमुक्ष हो मुमुक्ष को तो तीनों नहीं चाहिए इस लोक भी नहीं चाहिए पितृलोक भी नहीं चाहिए ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए इसलिए वो साधन भी नहीं अपनाएगा वो तीन ऋणों का चुकाना भी जरूरत है उसको ये कहा मुक्ति प्रति तस्य अप्रतिबंधक ये जो ऋण है तीनों ऋण मुक्ति के प्रति प्रतिबंधक है लोक प्राप्ति के लिए प्रतिबंधक है जिसको लोक चाहिए वो प्रतिबंधक हटाएगा और जिनको लोक नहीं चाहिए क्यों मुक्ति चाहने वाले को लोक नहीं चाहिए तो ऋण चुकाना इनको आवश्यकता नहीं है ये सिद्धांत ने उत्तर दिया पूर्वादि कहता है क्या में नौनो ऋण से मुक्ति प्रति प्रतिबंधक अस्तु विशेषाभाव ऋण जो है प्रतिबंधक माना जाए विशेष नहीं क्या विशेष है कैसा अनपाकृत्य मोक्षम तो मानो प्रजो अदायश स्मृति में है ऋण को चुकाए बिना तीनों ऋण चुकाए बिना जो मोक्षम सेवमान अध प्रज अधपतन मतलब होगा उसका तीनों ऋण को चुकाए बिना मोक्षम सेवमान जो मोक्ष को सेवन करने वाला व्यक्ति है अधा प्रजति नरक जाएगा ऐसा कहा हुआ है स्मृत विशेषा अभाव का ऋण जो है मुक्ति के प्रति प्रतिबंधक तो रहेगा सबके लिए रहेगा विशेष क्या है विशेष का अभाव है विशेष नहीं कहा क्या है विशेष का अभाव दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं यथोक्त लोक मात्र प्रतिबंधक तो नियामक ये तीन ही लोग मिलता है ऋण चुकाने से ये कोई ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता है नियामक नहीं है कोई तीनों लोग ही मिल रहा है ऋण चुकाने से ऐसा कोई वाक्य नहीं मिलता नियामक नहीं है कोई वाक्य जैसे भाई बोल रहा है पूर्वाजी वैदिक फलत्व से मुक्त को भी समझता है वैदिकत्व फल तो, तो समान ही है तो ये भी वैदिक फल है तीन लोग मिलना तो मुक्ति भी वैदिक फल है मुक्त को लिए वैदिक फल तो समान ही है उसको भी करना चाहिए इसलिए कहा सोयम मनुष्य लोग पुत्र इत्यादि लोकत्रय साधन है तो लोग ज्ञानी के लिए वो कानून नहीं लगेगा तीन लोग जिसको चाहिए वही ऋण चुकाएंगे इत्यादि सिद्धांत उत्तर दिया आगे कहते हैं ठीक है तीन नंबर टिप्पणी अच्छा आत्मा अपा अनबाकृत में तीन नंबर टिप्पणी मोक्ष प्रतिबंधक नियामक सत्वाच्य मोक्ष प्रतिबंधक में नियामक विषय कहते हैं अनबाकृति क्या है माने मोक्ष के प्रतिबंधक होता है ऋण नहीं चुकाएंगे तो पूर्वादि बोल रहा है क्या कहा अनबाकृत्य अनपाकृत मोक्षम तु सेवमानो प्रजत्यदा ऐसा है ऋण को चुकाए बिना मोक्ष के सेवन जो सेवन सेवन करता हो वो नर्क न करेगा ये कहा है ठीक है हम इसी टिप्पणी में कहा ऋणानी त्रिणी अपाकृत्य मनोमोक्ष से निवेश पूर्वार्थ ऐसा है इसका पूर्वार्थ ऐसा है ऋणानी त्रिणी अपाकृत्य मनोमोक्ष निवेश है अनपाकृत मोक्षम तो सेपमानो प्रत्यक्ष तीनों ऋणों को चुकाकर मोन मोक्ष में लगाए मन मोक्ष में संन्यास शास्त्र में जाए ऐसा कहा पूर्वाज ये कहने पर सिद्धांत का स्वयं मनुष्य लेकर पुत्र इत्यादि लोग साधन स्मृति का साधन का नियम है माने ये श्लोक चाहिए तो प्रतिबंध घटाए नहीं चाहिए जिसको तो नहीं चाहिए ये क्या ठीक है कहते हैं स्वयं मनुष्य लोग पुत्रेण में जाइयो नान्य कर्मणा ऐसा आया है वाक्य ये जो पितृलोक मनुष्य लोग है पुत्र के द्वारा ही जितना है न कर्मणा क्यों उसको मनुष्य लोग आगे मनुष्य लोग जीतना है तो पुत्र बन करके पैदा होना पड़ेगा कोई पुत्र बन के पैदा होगा आगे जाके इसमें दिखाएंगे तृतीय जन्म दिखाएंगे उसको वही आगे जा करके आसक्ति के बल से पुत्र होकर पैदा हो जाएगा वही आत्मा पैदा होगा तो फिर ये लोग मिल जाएगा उसको ये लोग जितने का साधन पुत्र बनना है उसको पुत्र नहीं जाइए पुत्र बने स्वयं पुत्र बनेगा वहां फल उसी को मिलना है इसी तैपरिपन में यही बातें आएंगे तृतीय जन्म इसी का होना है ऐसा आएगा अच्छा स्वयं मनुष्य लोग पुत्र में जाइयो नान्य कर्मणा कर्म से नहीं मिलेगा ये श्लोक और कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इति श्रुति वृद्धाग्र ऐसा कहा है पुत्रादि नाम मनुष्य लोकादि हेतुत्व तो अप्रमाद ये पुत्रादि जो है मनुष्य लोकादि के हेतु है साधन है ऐसे दिखाई पड़ता है इसलिए पुत्रादि वेद अपाकर्तव्या पुत्रादि अभाव रूपाणाम अंधणाम पुत्रादि भी अपाकर्तव्याम पुत्रादि के द्वारा अपाकर्तव्य ऋण है इनका पुत्रादि अभाव रूपाम ऋणाम तो पुत्रादि का अभाव रूप ऋण है पुत्र तो नहीं है ऋण पुत्र के अभाव है ऋणाम पुत्रादि साध्य लोक प्रति प्रतिबंधक तो भी उत्तम पुत्रादि साध्य लोक की प्राप्ति के प्रति प्रतिबंधक करना मानना ठीक होगा चार की टिप्पणी कारणभूत अभाव प्रतियोगित्व में प्रतिबंध आयोगों ने कहा है प्रतिबंध क्या है कारणीभूत अभाव प्रतियोगितम प्रतिबंधक प्रतिबंधक का लक्षण यही है एक अभाव को भी कारण मान प्रतिबंधक माना है कारणभूत अभाव के प्रतियोगी को कारण मानते हो कारणभूत अभाव प्रतियोगित्व उसको कारण मानते हैं कारणभूत अभाव प्रतियोगित्व प्रतिबंधक प्रतिबंधक यही है कारणभूत जो वस्तु का अभाव होगा वो प्रतिबंधक कारणभूत अभाव का जो प्रतियोगी होगा कारणभूत अभाव जिसमें हमको अभाव चाहिए था एक अभाव भी कारण है किंतु उसके प्रतियोगी भाव बैठा हुआ है तो प्रतिबंधक हो जाएगा हमारे मकान बनाने के लिए सारे मटेरियल तैयार थे हमारे पास ठीक है वहां नगर पालिका के हमें उसके आने से स्वीकृति आना चाहिए था अनुमति का अभाव नहीं होना चाहिए प्रतिबंध का अभाव होना वो अनुमति जब तक नहीं आएगा प्रतिबंधक बना हुआ है तो प्रतिबंधक मकान नहीं बन पा रहा है कार्यभूत अभाव है वहां कार्यभूत अभाव था प्रतिबंधक का अभाव चाहिए था हमें तो उसके जो अभाव के प्रतियोगी प्रतिबंधक बना हुआ है ऐसा हो जाता है कारणभूत अभाव प्रतियोगित्व में प्रतिबंधक है इसको प्रतिबंधक बोलते हैं मिट्टी में घट बनना है कारणभूत अभाव क्या चाहिए अभाव वहां प्रतिबंधक का अभाव चाहिए हमको अन्य प्रतिबंधक नहीं आना चाहिए प्रतिबंधक आएगा तो घट नहीं पाएगा वो अभाव के जो प्रतियोगी होगा वो प्रतिबंधक वही प्रतिबंधक है माने साधारण कारण आठ कारण मानते नहीं आए असाधारण कारण तो तत्त वस्तु का एक एक होगा जैसे घट का मिट्टी ही कारण होता है साधारण कारण बहुत सारे होते हैं ईशस तज्ञान इतने अच्छा कालो दृष्ट दिगे बचा प्राग प्रतिबंध का अभाव हो कार्य साधारण सिद्ध का नहीं आएगा तो नहीं कारण आठ कारण साधारण कारण होते हैं कोई भी कार्य होगा असाधारण कारण तो घट के लिए मिट्टी है किंतु ईश ईश्वर भी कारण होगा ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता कुछ भी कार्य करना ईश्वर कारण है ईश्वर तद ज्ञान ईश्वर का ज्ञान भी कारण है कोई भी कार्य होगा ईश्वर का ज्ञान रहेगा ईशा तज ज्ञान यत्न ईश्वर का प्रयत्न भी कारण है ईश्वर के प्रयत्न के बिना नहीं होता आप सफल नहीं होते कभी ईश्वर का प्रयत्न भी चाहिए ईशा तज्ञान यत्न और ईश्वर की इच्छा ये भी कारण है ईशा तज्ञान मान ईश्वर का ज्ञान और प्रयत्न और इच्छा चार हो गए ईशा तज्ञान यत्न इच्छा काल किसी में किसी समय में कोई कार्य होना है तो काल भी कारण है उसका कोई भी कार्य करेंगे कोई ना कोई समय है काल है और अदृष्ट भी कारण है ये जो बना हुआ है ये किसी के पुण्य से बना है किसी के पाप से बना हुआ है अदृष्ट भी कारण कोई भी वस्तु होता है वो अदृष्ट कारण होता है कालो दृष्ट अदृष्ट भी कारण होता है पुण्य पुण्य भी कारण होता है उसके माने कोई भी कार्य होगा सामूहिक रूप से होगा किसी का पुण्य कर्म सहयोग कर रहा है किसी का पाप कर्म सहयोग कर रहा हो किसी को इसको देखे ईर्ष्या होती है किसी को इसको देखे प्रसन्नता होती है जिसको इसको देखे प्रसन्नता हो रही है उसके पुण्यकर्म यहाँ सहयोग बना हुआ है जिस इसको देख करके ईर्ष्या वालों को उसका पाप यहाँ सहयोगी बना हुआ है अदृष्ट भी कारण दिशा तज्ञान कालो दृष्ट ये बचा दिशा भी कारण है किसी देश में कारण होगा कार्य हो किसी दिशा विशेष में कार्य है अष्ट दिशा से आगे तो कहीं जा नहीं सकते आप दस दिशा के भीतर ही काम करना होगा और प्राग प्रतिबंध का अभाव प्राग अभाव के, के अभाव होना चाहिए जब तक प्राग अभाव रहेगा कार्य नहीं हो पाएगा उसका अभाव और प्रतिबंधक जब तक रहेगा कार्य नहीं होगा प्राग प्राग अभाव और प्रतिबंधक का अभाव ये दोनों अभाव चाहिए ये भी अभाव दो अभाव कारण है प्राग अभाव का अभाव चाहिए प्रतिबंधक का अभाव चाहिए कार्य होने के लिए ये कारण होते हैं आठ होते हैं साधारण कारण और तत्त कार्य का एक असाधारण कारण होगा जैसे पट के लिए तंतु है घट के लिए मिट्टी है असाधारण कारण है ऐसा होता ये कहना चाहते हैं ऋण अनपा करने की साधना भावे न साध्य लोका भावा ऋण यदि नहीं हटाएंगे तो पुत्रादि जो साधन न होने के कारण से साध्य जो लोक नहीं मिलेगा ही तो होना उसको ज्ञानी को लोक नहीं चाहिए इसलिए पुत्रादि की अपेक्षा भी नहीं है ये कहना चाहते हैं ये कहा समय हो गया है यह रखना ओम बांग में मनसी प्रतिष्ठित मनो में बाची प्रतिष्ठित आविरावीर्मे वेदस्य स्फुतं मे मा प्रभाषे अनेनादीतेनाहोरात्रां सन्दधाम् हितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः